जिम कुलीन ते साधु सयारे पति देवता करम मन बारे रह करम बस परिहर हो सचिव हृदय तिमी दारुण दाहु लोचन सजल ठेठ भय थो रे न श्रवण विकल मति भो रे अधर लाग मुहलाटे जीवन जा जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है नेत्रों में जल भरा है दृष्टि मंद हो गई है कानों से सुनाई नहीं पड़ता व्याकुल हुई बुद्धि बेट कहने हो रही है ओठ सूख रहे हैं मुंह में लाठी लग गई है किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं अर्थात चौदह वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे यही आशा रुकावट डाल रही है विवरण भयऊ न जाए निहारे, मारे सिमन हो पिता महतारे, आने गलाने, विपुल मन व्यापे जमपुर जिमि पा हृदय पक्षता अवध काम देख बाये राबरहितरथ देखहि जोय सकुचहि कुचहि मोहि बलोक सो सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानी पीड़ा छा रही है जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो मुंह से वचन नहीं निकलते हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा भाई पूछ यही मोह जब विकल नगर नर उतर देव मैं सब तब हृदय ध्रुव नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा पुछी देन दुखित सब माता कहब का मैं तिनहि विधाता पुछी है जब ही लखन महतारे महतारि कवन हवन सुखारे राम जनमु जब राम जननी जब ऐ सुमिर धा जमी मने जब आए धाये सुमिर बच्छ जिने धेनु लवाए पूछत उतर देव मय ते ही गे बनुराय मैं जब दिन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा थी राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई व्यापी ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीतावन को चले गए जो पूछी है ही तेही उतरू देबा जाई अवध यह सुकुल पूछे जब ही राव दुख देना जीवन जाय सुरघु नाथ यदि दैहव उतर कौन मुहलाय आयव कुशल कुवर पहुचा सुनत लखन सिया राम सदेशो जिमितनु परिहे हरि हरि नहे नरेशो सुनत लखन से राम सदेशो तिन जिमितनु परि हर हे नरेशो जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे हृदय न बे पिमे हृदय न बेदरे मिचुरत प्रीतमने जानत हो मोहि दीन विधे यहु प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया इसमें मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है